और अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया फिर नुतफे से फिर तुम्हें जोड़े-जोड़े बना दिया और किसी मादा को जो कोई हमल होता है और जो कुछ वो जनती है वो सब अल्लाह के इल्म से होता है और किसी उम्र रसीदा को जितनी उम्र दी जाती है और उसकी उम्र में जो कोई कमी होती है वो सब एक किताब में दर्ज है हकीकत यह है कि ये सब कुछ अल्लाह के लिए बहुत आसान है